तो थे लेकिन इसकी कंट्रोल करी हुई थी अब आंखें चढ़ाए हुए काने हुए से हुए लक्ष्मण जी नगर में आए तो जैसे दामोदर नगर वासियों ने देखा तो देखा रहे ये तो लक्ष्मण जी रही है वही भगवान राम वही लक्ष्मण की जो जिन्होंने की बाली को मार दिया था ये तो बड़े शक्तिशाली है बहाने पर घर घर भागे आप कहीं यहाँ जिस न जिस सड़क से निकल जाए लक्ष्मण जी उसी सड़क को सन्नाटा खा गया था भाग पत्नी लग जाता भाग जाता पैसे के सब सब भाग गए नगर में कहीं नहीं रह गया और द्वार पर जहाँ राजद्वार था वहाँ लक्ष्मण जी पहुंच गया चढ़ाए कहा जा रहे करें पुरुषार और राजद्वार पर पहुंच करके लक्ष्मण जी को लाने जा रही अरे हम इस नगर को अभी जला करके फूल करके अभी जला देते धनुष चढ़ाए कहा धनुष चढ़ाए धनुष की डोरी ऊपर चढ़ाए गए उन्होंने बाहर उठा धन उठा करके दिखाया और कहा जार करो फिर के अगर नगर भर को जला करके आदमी मार छोड़े तो सारा आग लग जाए और सारे नगर से गिरा करके रात हो जाए देखो ये सब भटकाने की बात है अब ये नहीं झूठ बोलने की बात है कि देखो लक्ष्मी जी ने कहा कि नगर जलाएंगे लेकिन फिर जलाया नहीं लेकिन कार्य करें पुरुषार मैंने हम ऐसा कर सकते हैं अगर जो है बात को नहीं सुनते मानते तो हम ऐसा करते हैं दाखिल वगैरह देख कर आए बाल कुमार अगर नगर भर में खबर पड़ गई और हनुमान जी को पता चला कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं और सब भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं तब लक्ष्मण जी सबसे पहले हनुमान जी उनके पास आए तो बाल कुमारा अंगद जो है उनके उनके पास है वो उनके पास बाल कुमार अंगद जो वो लक्ष्मण जी के पास आते हैं अंगद क्यों आते हैं लक्ष्मण जी के पास और लोग डरे हुए हिम्मत नहीं पड़ती उनके पास आने के लिए लेकिन बाल कुमार जो अंगद जो वो हो ये थोड़ा उसको भरोसा उसको ये भरोसा है कि भगवान ने हमको युवराज बनाया और बाल हमारी बाह पकड़ा गया है भगवान राम को तो जो जिसकी बाह पकड़ता है उसकी रक्षा करता है अगर हम जाएंगे तो लक्ष्मण जी कहें नगर भर को जला गए तो हमें भी नहीं जलाएंगे कम से कम हम्म। इतना भरोसा अंगद के साथ जब दाखिल नगर देते तब आयो बाल कुमार पर अंगद उनके साथ आकर के इस भरोसे से लक्ष्मी जी के पास आया और उनको शांत किया लक्ष्मण क्या होता है कि चरण माए सिर लक्ष्मण अभय बात तो लक्ष्मण सनकाना सहकपीशयत भय कुलाना सुन हनुमंत तारा अर्जुन संघाओ कुमारा तारा सहित जाए हिमाना कर्म बंद प्रभु सुरस बखाना अर्जुन की मंदिर ले आए कर्म पथारी परम बैठाए सब कपीश कर्म सुर नावा कही भुजल सुन कंठ लगावा नाथ विषय सुन मद पछुनाई मोह करे सन माई सुनत दिनी के बचन सुख पावा लक्ष्मणते बहु संधावा पवन तमय सब कथा सुनाई यही समुदाय हर्ष चले सुग्रीव तब इंद्रदादि कपिसात आगे करे आए जहाँ रघुनाथ रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई की जय चरण जी ने लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी विनती की सिद्धि मैंने स्तुति की उनकी तो जब स्थिति थी तो अब जो स्थिति अपनी सुनेगा तो फिर शांत ही होगा क्रोध अब क्रोध एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है दूसरा व्यक्ति उससे वैसे ही क्रोध वो भी करे तो क्रोध नहीं घटेगा तो ये क्रोध किसी व्यक्ति के क्रोध को शांत करने का क्या तरीका है हम्म? अगर हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्रोध न करे तो ये तरीका वो है हम्म? जैसा अंगज नहीं किया तो समझदारी की बात ये है कि दूसरा क्रोध करे तो उसकी उसकी बुद्धि करे हर जगह उसको शांत करो और उसको कहो तुम क्रोध करते हो उनसे पूछ सको तो हम कम क्रोध करते हैं और ज्यादा क्रोध करके दिखाया हो तो जैसे फिर कैसा क्रोध बंद होता है और क्रोध करोगे अब ये क्रोध को शांत करने क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता क्रोध जो शांत होता है वो प्रेम से विनती से विनम्रता से साधुता से उससे क्रोध शांत हो जाए तो चरण में आए गिनती विनती की उनके चरण प्रणाम किया विनम्रता के साथ में और उनकी स्थिति की लक्ष्मण अभय बनाते जी नहीं लक्ष्मण अभय बना दिया मैंने बाण उठा करके उसको अभय कर दिया कहा कि तुम डरो नहीं हाँ, हम कोई तुमको तुम्हें मारने के लिए थोड़े आए हम्म, तुमसे तो हमारे कोई वो थोड़े स्रोत में आए और ये भी मैंने संकेत कर दिया कि हमें तो सुग्रीय से मिलाओ हमने तो बात उससे करनी है हाँ, हमारा क्या अपराध उसमें अपराध जो हो तो सुग्रीय का है तो गगन रंगल समन समकाना कह कपूर से अति हो अति भय अकुलाना इधर अंदर बात कर रहे थे और ये सूचना जो वो अन्य लोगों ने सुग्री को दी और कहा कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर के आए अंदर भी उनसे बात कर रहे हैं सलाम पुत्र क्रोध शांत शांतांत कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे राजभवन के द्वार पर अभी खड़े हैं ये जब लोगों बताया तो क्रोध भगवान के लक्ष्मण सुन तो सुग्रीव ने सुना की लक्ष्मण जी को रहे तो कहा कपीस अति भय असुलाना तो उसको कपीस तुम्हारे तो जो सुग्रीव उनको भय उत्पन्न हो गया और भय के कहा से व्याकुलता उत्पन्न किया क्या करें क्या करें लक्ष्मण जी को देते हैं तो इनको कैसे शांत किया जाए कैसे शांत किया क्या क्या क्या करना चाहिए <clears throat> तो लक्ष्मण जी वो समय वहाँ पर हनुमान जी थे हनुमान जी ने प्रमंत्रणा दी इनको सुग्रीव को रास्ता बताया कि क्या करना चाहिए कहते सुन हनुमंत संग तारा कर समझाओ कुमारा सचगुरु ने कहा हनुमान जी से पूछा कि क्या करने गए हनुमान जी ने कहा कि अच्छा उसका कुछ उपाय करते हैं सुग्रीव ने कहा कि अच्छा ऐसा करो हमें को धारा को लेकर के जाओ अब देखो पहले के तो अंदर गया भगवान के उनके लक्ष्मण जी के सामने तो लक्ष्मण जी अंदर तो कुछ भगवान का भरोसा था उसके कारण और तारा को भी हाँ, भगवान ने जो है वो ज्ञान जीन हर ली हुई माया तो तारा के ऊपर भी भगवान ने कृपा की थी तो सुग्रीव ये समझता है कि भगवान के ऊपर जिनकी कृपा है उन लोगों को लक्ष्मी जी के पास पहले भेजो हम्म। तो तारा को ले जा करके उनको भिजवा दिया तो लेकर कहते हैं बात दोनों की हुई तब ये निश्चय हुआ सिंह हनुमान के संग लो तारा तारा के साथ ले जाओ पर बिनती समझाओ तुम्हारा और तुम्हारा तुम्हारे तो हनुमान जी को जाकर के सब कुछ समझाओ जाते हैं हम्म। हाँ। कर दिन के समझाओ तुम आया तुम हनुमान जी तुम जाओ लक्ष्मण जी तुमको समझाओ तारा सहित जाए हनुमाना तो वैसे हुआ हनुमान जी तारा के साथ में फिर गए और कर चल बंद प्रभु सुबह जैसे बखाना और हनुमान जी ने भी जाकर उनके चरणों को बदना की और क्या किया प्रभु सुबह बखाना प्रभु सुबह के माने भगवान राम का भगवान राम का यश बंधन किया जब भगवान राम का एक वर्णन करने लगे तब लक्ष्मण जी को ये लगा कि हाँ भगवान की उनको याद है और वो उनको जो है अरे कहा कि भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो तो परम परमात्मा ही है हम सबको उन्हीं की शरण में हैं हम कैसे उनको भूल सकते हैं ये सब हनुमान जी ने उनसे कहा तो यहाँ तुलसीदास जी सब बात संक्षेप में कहते हैं छोटी है कथा थोड़ी है बहुत विस्तार करनी हो तो और और जो देते हैं वो संस्कृत वाले वाल्मीकि रामायण की सगुनी बड़ी तमाम तो एक एक स्थान पर जहाँ कहीं आया तो कैसे समझ आया तो वहाँ देखो फिर कैसे प्रार्थना की तो वहाँ सब विस्तार आएगा तो बस यहाँ पर ये की कहीं दंड पर सुबह सुबह खाने यहाँ भगवान का सदस्य वर्णन इन्होंने किया और कर विनती मंदिर ले आए हम्म। और विनती करने पर हम जब लक्ष्मण जी थोड़ा शांत हुए तो हनुमान जी तारा और फिर वहाँ अंगद तो ये सब लेकिन सुग्रीव जब लोग सामने हाँ? नहीं आया क्योंकि क्रोध सुग्रीव हनुमान जी का मुख्य क्रोध तो सुग्रीव है तो देखा कि सुबह से जो सुग्रीव अगर सामने जाता है तो पहले के सुग्रीव ने अपनी युक्त से राजनीति से लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करवा लिया इन लोगों से तब उनको फिर सामने बाद में जाना ये सामने आया लक्ष्मण जी से क्रोध में और से सीधे सप्ताह में सामने उसी समय क्रोध बने तब अब लक्ष्मण जी उसी के ऊपर बर्फ करें और क्रोध में कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाए इसलिए क्रोध को उसने शांत करा लिया सभी के कई दिन के मंदिर ले आए मंदिर ले आए तो मैंने भवन के भीतर राजभवन जो है मंदिर वही और मंदिर कोई नहीं ये राजभवन जो है उसी के भीतर उनको ले आते हैं लक्ष्मण जी को अंदर जाते हैं कारा ले आते हैं उनको सबको तो कर गिनती मंदिर ले आए और चरण पखारे पलंग बैठारे अब इन्हीं लोगों ने पहले जो है उनको एक आसन के ऊपर बैठा ला पलंग के ऊपर आसन के ऊपर बैठा ला और बैठाल करके फिर उनके चरण थे मैंने जैसे तो की कोई अतिथि आता है और उसकी सेवा की जाती है दिन को उस प्रकार से उनकी पूजा की गिनती की कली अब उनके उनका पूजन भी किया इस प्रकार जितनी उनकी गिनती और पूजा होती हुई जैसे धीरे धीरे करके उनका क्रोध शांत होता गया लक्ष्मण जी अपने सरज भाव में सौ भाव में शांत होकर के आए जब ये <clears throat> थोड़ी देर हो गई अब तुरंत क्रोध हो तो तुरंत सामने आ जाओ तो क्रोध बढ़ गया अब क्रोध बहुत देर तक खुला रहेगा अपने शांत करने के उपचार भी कर रहे हैं <clears throat> इसलिए थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे करके लक्ष्मण जी का क्रोध शांत होता जाता है जैसे उनके चरण भरे गए जैसे उनकी गंगना स्थिति की गई तो लक्ष्मण जी थोड़ी देर बैठे तो उनका प्रोत्साहन हुआ तब कपिल से चरण में शरण हुआ तब उसके पहले में तब कपिल से जो वो कपिल सुग्रीव ने तब लक्ष्मण जी के तब वो आए और लक्ष्मण जी के दूसरे कमरे में छुटे रहे माँ से देखते रहे कि इनके चरण खोए जा रहे हैं इनकी बनना हो रही है अब निकल करके आए तो देखा शांत हो गए हैं और चरणों में शरण आवा और उनके चरणों में प्रणाम किया और कभी भुज लक्ष्मी ने कंठ लगाया और लक्ष्मी जी पूर्व शांति हो गया था सुग्रीव को भी लेकर के भुजा से पकड़ करके कंठ लगा मैंने हृदय से लगा दिया मैंने दोनों बड़े प्रेम को भोग दिया सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने भी उनको उठा करके अपने हृदय से लगा और ये अब सुग्रीव जो है एक प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं और पश्चाताप करते हैं और नहीं है हम्म। व्यासदेव क्या कहते हैं कि ना तो विषय प्रतिमा ही ना तो क्या कह करके प्रार्थना हो गई और फिर कहते हैं विषय प्रतिमा ही और अपने जो वो हो अपनी कमजोरी बताते हैं अपनी चिंता ही बताते हैं इस प्रकार से प्रार्थना भी हो गई और क्षमा याचना भी हो गई ये क्षमा याचना के लिए बोल रहे हैं कि विषय प्रतिमा ही और मुनि मन मोह करें ही ये विषय ऐसे हैं जो मुनियों के मन को क्षण घात में मोहित कर देते बड़े शक्तिशाली होते हैं लेकिन बोला ऐसे ही जाता है पहले भी सुग्रीव उसी प्रकार बोल रहे हैं तो यही बात दोहराते रहेंगे सुग्रीव सुग्रीव ने जैसे पहले कहा था कि देखो विषय मोर हर लीनू जाना सुन सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हर लीनू जाना विषय हमारे विषय ने हमारे ज्ञान को हरण कर लिया यहाँ कहते नाथ विषय समय मद कठिनाई हे नाथ भगवान ये विषय के समान मद करने वाला मन मन मुसीबी वस्तु कोई नहीं है जैसे नशा कर जाता है बुद्धि में तो व्यक्ति भूल जाता है तो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता उसकी अकल मारी जाती है जैसे जिसे सबसे ज्यादा मद उत्पन्न करने वाले जिसे हैं उनको उनके समान विषय जिस मद उत्पन्न करने वाले कोई वस्तु है कहते मन मन मोह करें सन्माने मुनि को भी मन को क्षमाते हैं उनको मन में मोह उत्पन्न कर देते हैं और उनमें उनमें मद आ जाता है मुनि लोग भी पहले तरह से ज्ञान ये जो विषय जो है ज्ञान धारण कर लेते हैं नियम के मन में मोह उत्पन्न कर देते हैं ये सब लेकिन ये कहने का एक तरीका है हाँ? लेकिन दरअसल में बात क्या है अगर सावधानी से विचार करो तो वेदांत क्या कहता है कि व्यक्तियों के मन में संस्कार में वासनाओं में जब विषय की वासना होती है और मन में विषयों के प्रति प्रीत होती है तब वो विषयों के दर्शन में होता है विषय अब देखो तुलना करो विचार करो तो आपको क्या दिखाई देगा ये बात सत्य नहीं है हाँ? सत्य क्या है विषय के जल है विषय में शब्द स्पर्श रूप प्रतिबंध जल वस्तु में सत्य ही कितनी हाँ? और इंद्रिया और चेतन तो शक्तिशाली कर्म हुआ चेतन इंद्रिया शक्तिशाली है तो जल विषय शक्तिशाली है इंद्रिया विषयों को ग्रहण न करें हाँ, तो विषयों में क्या ताकत थी वो इंद्रियों में प्रवस्त हो जाए और इंद्रियों को अपने बस में कर ले जल में तो क्या करें और इंद्रियों से भी ज्यादा चेतन मन है अगर मन की चेतनता मन जो शोषण में जो ही रहे तो इंद्रियों भी विषय की तरफ पाए जा सकती है वो इंद्रियों विषय को चाहे भी जा चाह सकती प्राप्त कर सकती है वो तो मन जो सहयोग करता है मन इंद्रियों के साथ में तभी इंद्रियों विषय को ग्रहण करती है और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है अगर बुद्धि सदा सचेत रहे जागृत रहे शास्त्रों को श्रवण किया हो सत्य को बात को जाना हो और बुद्धि सत्य के ऊपर जब रहे तो मन भी नहीं जा सकता इंद्रियों के साथ में इंद्रिया भी नहीं जा सकती विषयों के साथ में ये बात गीता में भगवान ने समझाई है वो बात याद रखना चाहिए हम्म? इंद्रिया पराण और इंद्रियोध्या परम मना मनुष्य परा बुद्धि और बुद्धि पर तस्तु सहा आत्मा सर्वशक्तिमान है सबसे अधिक चेतन प्रकाश स्वरूप तेजो में आत्मा है आत्मा सर्वशक्तिमान है आत्मा की शक्ति से बुद्धि में शक्ति है और बुद्धि की शक्ति से ही मन में शक्ति है इंद्रियों में शक्ति है और जब इंद्रियों में जितनी शक्ति है वो विषय में थोड़ा घड़ी शक्ति है लेकिन जितने समझता है विषय जो है वो शक्तिशाली है हाँ? और वो विषय हमारे इंद्रियों को बस में कर लेते हैं मन को हमारे बस में कर लेते हैं और बहुत लोग ऐसी धानेबाजी करते हैं जैसे सुग्रीव बहानेबाजी करता है ये सब बहानेबाजी की बातें हैं ऐसे दुनिया में भी लोग भाई बहुत बहानेबाजी करते अरे हम साथ क्या करें जिसे बड़े शक्तिशाली हैं हम्म? तो हमारे मन के ऊपर अधिकार कर लेते तो बस नहीं चलता हमारा ये विचारहीन व्यक्ति की बात है कहाँ से तो ये जान करके जानबूझ करके बहानेबाजी है अथवा कहो अज्ञान का सूचक है व्यक्ति नहीं जानता है वो विषय में सबको हो पा सकते हैं दूसरे तो से इंद्रिया शक्तिशाली हुई है इंद्रियों से शक्तिशाली मन तो है अब तुम देखो कि जैसे सामने रखती हुई वस्तु है घड़ी है किताबें हैं वस्तुएं हैं तो हमारे नेत्र जो नेत्र इंद्री है वो इन सब वस्तुओं को देख सकते हैं जान सकते हैं कि ये वस्तु हमारे नेत्र भी जान सकते हैं तो माना नहीं कि हमारे नेत्र जो हमको देख रहा है घड़ी की कोई पता है किसी को आंखें भी है जो आंखों से हमको देख रहा है घड़ी की कोई पता है देखिए पता चलेगी जड़ बसू उसकी बात नहीं समझ आती सुग्रीव जो धानाबाजी करता है कहता है कि नाथ विषय सोमत कठुनाई ये विषय जो है बड़े मद उत्पन्न करने वाले हैं सारा दोष विष्णु का है जैसे सुग्रीव कोई दोष नहीं है विष्णु का ही सब दोष है तो नाथ विषय सोमत कठुनाई और मुनि मन मोह करें माही इन्हीं के मन को क्षण मात्र में ये मोहित कर देने वाले हैं ऐसे दिखे हैं वैसे बोलता है तो सुनी तो दिने तो ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं लक्ष्मण जी समझ गए कि कैसी बातें कर रहा है ये ये एक प्रकार का इसका जो है वो है क्षमा मांगना जैसा ही है और कुछ नहीं अब राजा होने के नाते कुछ न कुछ अहंकार आएगा इसको और जब व्यक्ति में अहंकार आएगा तब अपनी गलती कैसे मानेगा अब सुग्रीव राजा का मेरी गलती है कि नील स्त्री में पड़ गए ऐसा नहीं बोलता तो मैंने गलती से इस प्रकार से मैं विषय जाल में पड़ गया मुझे समय नहीं चाहिए था सीधी बात ये लेकिन कहता मैं क्या करूँ मैं तो नहीं कर सकता ये विषय ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने इतनी शक्तिशाली है कि मुझे के तो मन को मुहूर्त कर देते तो उन्होंने हमारे मन को हरण कर दिया हम क्या करें हम्म। <clears throat> ऐसे बोलता है समुद्र दिल्ली के बचने सुख पावा सुखदेव ने इस प्रकार से पूर्वक लक्ष्मण जी के सामने बोला तो लक्ष्मण सुख पा लक्ष्मण जी को मैंने शांत तो पहले हुआ तो क्रोध अब प्रसन्न इसके माने है कि सुखदेव को हमारे काम की याद है हम्म? और वो जो है वो हो कि हमारा विरोधी नहीं हो गया ऐसा नहीं हो गया राज्य प्राप्त करके बिल्कुल बुला दिया हो और हमारे को तो मना कर देता करा रहे वो गए अब तो हम राजा हो गए अब तुम्हारी जरूरत नहीं है भागे देंगे आप तो नहीं बोला इसके मैंने अब ये सहायता करेगा अभी इससे काम चलेगा इसलिए तो प्रसन्न सुख पावा और लक्ष्मण को ही बहुबुद्धि समझाया और लक्ष्मण जी ने प्रभु को समझाया कि तो हुआ तो हुआ लेकिन आगे अब तो कुछ कार्य तो होना चाहिए वर्षा खत्म हो गई सर्व को आ गई अब तो सीताजी खोज के लिए कुछ कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तब जब ये बात कही तब तक हनुमान जी ने कहा कदन तनय सब कथा सुनाई अब सुग्रीव कुछ कहते तो हो सकता है सुग्रीव कहें कि लक्ष्मण जी उसे बहानेबाजी माने है तो ऐसे कह रहे होंगे किसी भेजा हम जी ने कहा कि नहीं इनको सुग्रीव को सब पता है और याद है सब आपको खोज करने की जरूरत नहीं है इन्होंने तो वैसे ही दूतों को भेजा हुआ सीता जी की खोज करने के लिए सब कथा सुनाई कि तो मैंने पंद्रह दिन पहले ही मैंने इनको दूतों को भेज चुके हैं और वो सब सीता जी की खोज करने में लगे हुए हैं सब बस इतनी बात है कि आपके पास खबर तक नहीं पहुंची आपको मालूम नहीं वहां तक लेकिन कार्य सब हो रहा है इसलिए आप निश्चिंत रहो पवन समय सब कथा सुनाई गए दूत समुदाय यही कथा क्या कि दूतों को कैसे ले गया और कैसे सबके सब चारों दिशाओं गए हुए हैं सीता जी की खोज कर रहे हैं तो इसलिए सब बात पहले हो गई तब लक्ष्मण जी को लगा कि हाँ ये हमें केवल मालूम नहीं हुआ हम लोगों को मैंने वैसे सुग्रीव ने हनुमान जी ने कोई बुला नहीं दिया है कार्य तो हो रहा है इससे देखो इन सभी घटनाओं से एक एक बात का पता चलता है एक तो ये कि अगर ने दूतों को भेजा था हनुमान जी ने भेजा था तो भगवान के पास इस बात को जाके बताना नहीं चाहिए सूचना भी देनी चाहिए जब किसी उसके द्वारा सूचना दिलवाते उनको तो सुग्रू में जाके अंगद को भेजते हनुमान को भेजते और किसी को भेजते जाकर के भी जाकर के भगवान को बताता कि दूतों को बांधवों को भेज दिया गया है वो तो सीता जी खुद कर रहे हैं <clears throat> ये तो भगवान निश्चित रहते थे सारे घर आया लेकिन उन्होंने बताया नहीं उसके कारण भगवान ने को भी क्रोध करना पड़ा लक्ष्मण को भी क्रोध करना पड़ा और लक्ष्मण जी को वहाँ जाना नहीं पड़ा और फिर लोगों को पश्चाताप हुआ ये सब लक्ष्मण जी ने विनती करते करे हम्म? उनको शांत क्रोध को शांत करते करे तो ये सब उपद्रव खड़ा हो गया केवल रखने कि कम्युनिकेशन नहीं था बीच कम्युनिकेशन आजकल कहलाता है कम्युनिकेशन गैप वो ठीक अपने सुग्रीव का भी कारण हनुमान जी का भी कार्य हो रहा है उधर तो भगवान का भी केवल उसका आपस में जानकारी नहीं कि तो वो क्या कर रहे हैं उनको क्या हो रहा है तो कम्युनिकेशन गैप के कारण से उसकी ये व्यवस्था उत्पन्न हो रही तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए तो कहते हर्ष चले सुग्रीव तब अंग दाव कपिसात तब फिर उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो भगवान को बताओ तो सही जगह तो ये जगह सब करते रहोगे तब कैसा चलो बताते चल करके बाहर से चले सुग्रीव तब प्रसन्न होकर के सुग्रीव जो है लक्ष्मण जी के साथ चले अंगराध कब साथ और अंगद जी अंगराध कब कर अंगद जी है हनुमान जी भी है ये सब नाम जो है और नदी राधी का हनुमान क्या इन सबको लेकर के सब हनुमान सब लोग इन सबके साथ इकट्ठे होकर के फिर भगवान राम का दर्शन गिर पर जहाँ है वहाँ ये सब पहुँचते हैं रामायण जो आगे कर आए कहा रघुनाथ लक्ष्मण रामायण में लक्ष्मण जी आगे आगे हैं और पीछे पीछे ये सब लोग भगवान के पास पहुँचे लक्ष्मी जी को आगे क्यों कर दिया क्योंकि लक्ष्मी जी ने बता दिया था कि भगवान बहुत क्रोध थे हमारी बात तुम क्या समझते हो कि ये भी सब डरते लेके जा रहे हैं भगवान खुद बैठे होंगे हम सीधे पहुंच जाएंगे तो उनका क्रोध का सामना हमें भी करना पड़ेगा अब लक्ष्मण जी को धन्य समझा लिया है तो अब लक्ष्मण जी जब भगवान राम को समझाएंगे तो नहीं क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है ये सब ये दूध भेजे हुए हैं तो ये सब जब जाकर के बताएंगे तब भगवान राम शांत होंगे तब हम उनको इसलिए आगे आगे लक्ष्मण जी कर लिया कोई कोई कहते लक्ष्मण जी को इसलिए कर तो दिया कि जो ग्रुप इतना सबका सब था इसमें राजा को सुग्रीव को आगे आगे चलना चाहिए था लेकिन सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को आदर देने के लिए उनको आगे किया जो बड़ा होता है सम्मान्य होता है उसे आगे चलने देते हैं हाँ, बाकी लोग भी वो उसके पीछे चलते हैं तो इसलिए लक्ष्मण जी को सम्मान देने के लिए आगे कर लिया और पीछे तो सुग्रीव हनुमान उनके मंत्री क्या सब उसके पीछे पीछे पीछे चले और वहां जाकर के पहुंचे जहां भगवान श्री राम जी पर्वत मंदिर पर महावास कर रहे थे उस पर्वत पर पहुंचे और यहाँ भगवान के सामने क्या बात होती है तो वही बात सुग्री देवी बात जानते हैं हाँ? कि बस विषय के समान मरवा कुछ कुछ भी नहीं है विषय ज्ञान ग्रहण कर लेता है विषय मन बुद्धि ग्रहण कर लेता है सारी जितनी उसके साथ साधु सुग्रीव के साथ ही है जितनी समस्या उत्पन्न होती है उसमें सुग्रीव की कोई अपराध नहीं सब विषयों का अपराध है भगवान के पास जाता तब यही चीज करता है अब कल देखना चल करके तो ये दो बार तो हनुमान जी के सामने ये संदेश कर चुके और जब लक्ष्मी जी आए तो उनके सामने ये बात कह दी और उसके बाद जब भगवान राम के साथ तो कल ये बात कर दी कर्तुम् प्रयत्य रघुपुङ्गवैरभान् कामादिदोषरहितम् कुर्मानि सन्त श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय